भगवत कथा अमृत पान हम सब कर रहे हैं वो की कथाओं में सुखदेव जी भक्ति के रहस्य बदला है और वही हम वेद की दिशाओं भी कर रहे हैं हमें नए ऋषि का आरंभ किया और उनके तीन विधाओं का पाठ हम कर चुके हैं और अब हमारे सामने ये स्पष्ट हो रहा है कि गुरुकुल में वेद बच्चों को कैसे और क्यों कर पढ़ाए जाते हैं कैसे हम उन बच्चों की जो आपके पूर्वज थे उनकी भोली मानसिकता को धो और पवित्र करके उनके जीवन को अमृत में बनाते थे आज उसी कथा में इन्हीं रहस्यों में हम आगे बढ़ रहे हैं पहले की इन दिशाओं को एक बार फिर दौड़ा लें संक्षेप में अति संक्षेप में ऋषि हमारे सुनय श्वेत है अर्थात जिसे असावधानी में भी विषय पकड़ न पाए सुनो कहते हैं कुत्ते को शेप माने नहीं था कुत्ते की मन सुनने वाले कुत्ता थोड़ी सी आहट पर जाग उठता है ये भाव दिया उन्होंने और जैसा भाव दिया है ऋषि ने अपने नाम का वैसे ही हमको वो कथा सुना रहे हैं कि कश्यम कथम अमृता नाम मनामहे चारु देवस्य नाम को आदित्य पुनर्दास पित्रम चादृश्येयम मातरम कहा कौन है किसने मैं इस प्रकार ज्योतियों का एक सुंदर संकल्प जगाया और जीवन के अमृत से चारों ओर मनोहर चित्र प्रकट करता चला गया जहाँ न जीवन था न कोलाहल था न सांसें न धड़कने थी न कल्पनाएं थी वो कौन है जो हमारा मेरा महान अधिकतम सूरज है वो कौन है जो मुझे रोशनी देता है और मैं देख पाता हूँ वो कौन है जो मुझे जीवन की रोशनी दे रहा है और वो कौन है पुनर्दात छह क्षमातरम का वो कौन है जो माता पिता बन के बारम्बार मुझे जीवन के कोलाहल में लौटा के लाता है क्या दृश्य और वो कौन है जो सारे दृश्यों को प्रकट करता है यही देख रहे हैं कि शिक्षा का सूत्र का हमें कहा ले जा रहा the The of education is that the child should know himself और आज ये सूत्र शिक्षा में नहीं है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी कुछ ऊपर की आमदनी के लिए हम सोचते हैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं कौन सी शिक्षा दिलाएं कौन कहाँ कहाँ को ट्यूशन दिलाएं वो मट्टी से नहीं इंसान कैसे बनाए वो कौन है वो कुछ क्या ये नहीं पढ़ाए और उससे भी बड़े दुख की बात है कि मंदिर में भी आते हैं तो लोग के लिए कि ये काम हो जाए ये पूजा करते हैं ये सीधे स्थान है या मनोकामना पूरी होती है अरे मैं कब जाऊंगा तो मैं कौन हूं क्यों आया मैं कब जाऊंगा ये सांसें खत्म होते ही मैं कहा गया और फिर मैं लौटा कहते हैं आज मैं प्रशिक्षा तो में हूं न हमारी सोच में है न हमारे विचारों में है एक बड़ी ही सतही जिंदगी जीते हैं हम लोग अब भूल जाते हैं कि एक जीवन के क्षणों के अलावा कोई धन हमारे पास नहीं है उम्र गई एक निर्धनतम मौत मरेंगे हम साथ ये चमड़े भी उधेर लेगा ये कपड़ा भी वो उतार लेगा पूजा की लकड़ियों को तो फिर मैंने जानना क्यों नहीं चाह मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कैसे आया हूँ कौन लाता है मुझे कौन इस दृश्य में उभारता है मुझको और यहाँ ऋषि जैसे ही पढ़ाने आया है गुरुकुल में छात्र को जो पूर्वज है आपका आप ही का बचपन है तो पहली रचा से उसने शुरू किया ये कौन है भैया आदित्य पुनर्दास चित्रंग मात्र दृश्य मात्र कौन है और आज बुढ़ापे का क्या ये कौन मेरे मन में कौन पता है लड़ाई झगड़े ईर्षा देश लोग मुआ सखियां मेरे पर आए अपने इससे आगे क्या हम बढ़ पाते हैं एक अतिशय दुर्लभ मनुष्य की यही बताई जा सकती है एक दुर्लभ जोड़ी है कि जहां भी हमें बुद्धि से विवेक से वरद कर रहा है और क्या हम चंद चांदी के और सोने के सिक्कों और चंद टुकड़ों के लिए और चंद आसक्तियों के लिए इसे ये तबाह कर सकते हैं क्या ये जीवन इतना इतना इतना सस्ता है और वो जो मूल लगाए हमने क्षणों के वो भी तो रह जाते हैं साथ रह जाता है तो क्या ये जिंदगी यूं बिठाने के लिए बर्बाद करने के लिए है आज की शिक्षा आज के मानव की सोच में ये सब कुछ भी तो नहीं है आज वेद ही नहीं है बाकी सब कुछ है उसके बाद दूसरे विचार है वो बालक पढ़ रहे हैं आपका बचपन पढ़ रहा है गुरुकुल में प्रथम अस्य अमृता नाम मन ही चारो देवस्य नाम वो ब्रह्म ज्वाला वो अग्नि वो आत्मा वो यज्ञ है है जो प्रथम देवता है वही है जो हमको लाने वाला है है ना वो जीवन का अमृत घर तक लाने वाला है मनोरम है सुंदर मनोहर चारू अतिशय मनोहर वही देवता है जो जीवन के अमृत क्षणों को हम तक पहुंचाने वाला है स्थाने भैया वही है हमारा महान आदित्य पुनर्दात पुत्र क्या दृश्य मातरम च कि वही है मेरे चारों ओर इन दृश्यों को भागने वाला और वही माता और पिता बन के लाता है मुझको क्या आज आप बुढ़ापे पिता जान पाते हैं क्या आप जान पाते हैं क्या आपके असली माता पिता कौन है और वाही जगत एक नियमित जगत है जैसे हलवाई बर्तनों का प्रयोग करके लड्डू बनाता है तो बर्तन लड्डू नहीं बनाते हलवाई बनाता है झूठे एकदम और आसक्तियों का कलुष ही देना और उसके बाद पूजा और हवन के नाटक भर करके मान लेना कि मैंने बड़े धर्म की कृति कर डाले इतनी इतनी सतही जिंदगी और अंत तक जान न क्योंकि मिट्टी से मनुष्य बनाने वाला मेरा ही अंतरात्मा है अग्नि वयम प्रथम अस्य अमृता नाम मेरा ही चारू से नाम ये उस मनोहर का ही नाम है वही ब्रह्मा है वही विष्णु है वही महेश है वही नव दुर्गा है वही लक्ष्मी है वही मेरा अंतरात्मा ही श्री राम है वही कृष्ण है सारे मेरा वही है हमारा आदित्य वही सूरज है मेरा वही रोशनी है पूर्वात् पितरं च अरे वही माता पिता राम जी बन के शबरी का राम वही तुम्हारे तो जूठे भोजन को कोई भोग न करता हुआ मेरी जूठन को जीवन के अमृत क्षणों में शक्ति और ऊर्जा में लौटा रहा है सारे मैया वही है हमारा आदित्य वही सूरज है वही यज्ञ है हमारा वही जीवन का दाता है हमारा वही पुत्रम और वह ऐसे कभी नहीं जानना चाह बाहर ही की आसक्तियां जीनी चाहिए मेरे मेरे तेरे तेरे अपने अपने पराए पराए झूठ कपट और हमें कभी झांक के भी ये तरफ नहीं मुझे वो वो हमें प्यार देता रहा है और फिर इसे बताया गया हमने पढ़ा अधर का देव सवितर ईशानम वार्याणाम सदा राम भागम ई और उसी से तू देवतुल्य जीवन को उस मनुष्य मोहन को उस देव आत्मा की कृपा से तू भी उसके साथ जगमगाता रहा है तेरे जीवन के क्षण चमकते हो मुस्कुराते रहे हैं तेरी आंखों की दिलाई रही है इसने वर्ण किया था तेरा तो जीवन है तुम्हारा लोग वर्ण कर ले आज उसे अरे अब ना मिला तो कब मिलेगा स्वामी जी इतने पूजा पाठ किए बैठे से तो जा पाऊंगा और वो बैठा रहा बैठे से तो भीतर और जा नहीं पाया पता नहीं कहाँ जाएगा उससे हम फायदा नहीं है साथ में आसमान भी जाएगा सदा भाग उसी में बैठा है उसी में नित्य बैठा है उसी से नित्य जीवन का क्षण ले रहा है और उसी से जगमग है और पूछता है उसको बैठने तो मैं बोलूंगा सब कैसी विचित्र बात है तो वो राम राम को मैं समझ रहा हर सांस धड़कन वही पीता रहा और पूछते हो कि मरेगा कहा सतही पूजा है दिखावा भक्ति मुझे कहा ले जाती है मुझे अपने साथ हर सांस में अपने किस्मत के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है कि सजा किसका रहा होगा किसके साथ ही मैं रहा किया होगा और आज ईमानदारी से पूछो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं क्या बनाना चाहती क्या चाहते हो तुम जाने में कौन है क्योंकि आज भी तुम्हारी आस्था आसक्त जीवन में है अध्यात्म में नहीं है सत्य में नहीं झूठ और कपट को ही तुम सब कुछ जीना चाहते हो हाय पैसा बटोर लाए पैसा जीवन के क्षणों को पढ़ पाए वो पूर्वज तुम्हारे अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे आज तुम्हें कौन भेज पाएगा अगर हम मना देंगे तो कितना भेद आ गया है कितना अंतर आ गया है आज और आज की विचार भी खोल लो इसी के साथ कुछ कथा में चले कहा यश्च त उत्था भगा शिष्माना व्याविदाः अद्वेषौ हस्तयोदने यश जिसके द्वारा ये ज्योतियां जो चमकती हैं ता इच्छा जिसमें जिसके व्याप्त होने से जिसमें स्थित होने से भगवान सूर्य चमकता है शशि माना चंद्रमा ज्योतिर्मय उठता है पूरा मैदान जिसके कारण सारे लोग मैदान कहते हैं स्वप्नों को मैदान कहते हैं प्रकाश को ध्रुप को है हाँ, कि जिसके द्वारा सारे पूर्व लोक और ब्रह्मांड जगह है और पूरा देहती भी कहते हैं शरीर एक लोक है और संपूर्ण लोगों को बनाने वाला आत्मा इसी लोक में विराजमान है सभी का यह केंद्र तत् ब्रह्मांड है जो सू है वो है सचराचर सारा और जो संपूर्ण सचराचर है वो सूक्ष्म होकर समाया है तुम में यहां तक कि संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों को बनाने वाला भी सूक्ष्म होकर आत्मा के रूप में यज्ञ के रूप में मेरे भीतर है तो कहा भगवान भगवान सूर्य भगवान सृष्टि भगवान ज्योति भगवान यज्ञ भगा उत्पत्ति सुषमाणा और चंद्रमा और चंद्र की किरणें कलाएं पूरा रहा जो लोगों में वो सबको जगह कर रहा है अद्वेशो भेदभाव से रहित होकर कोई भेद नहीं जानता हुआ देश आदि विषय आदि सबसे अलग हटता हुआ अद्वेश हो देश से रहित होकर अर्थात अभेद होकर हस्तोर गदे वो तुमने हम सबको बैठा हुआ है वो हम सबको धारण कर रहा है चलो हम भी उसको धारण करें भगत के विषय और जगत में न झूठ को सत्य मानकर अपने को धोखा दें न धोखा दें किसी को जब हस्तांतरित किया हुआ है हमने उसको तो। वो आत्मा होकर हमारे भीतर बैठा हुआ है अतः तो मैंने हस्तांतरण करना पाया है ना वो हमारे भीतर है हमारे हाथ में है दर्द है और वही है जो हम सबको धारण कर रहे हैं चलो आज उस आत्मा को धारण करें अर्थात उसके सत्य में जाएं उसको अर्पित हो जाएं उसी में देव के जीवन फिर आओ गोविंद के भी ये हम्म। आज के विचार है हाँ। इन विचारों से हमें दिख रहा है कि मेरे पूर्वज उनका बचपन बैठे बिठोरने के लिए नहीं इस जीवन को धन्य करने के लिए शिक्षा दी की कथनी में एक असुर आता है जिसका नाम है असुरराज राज जब भगवान राम और लक्ष्मण गणित की खोज में बन रहे होते हैं तो एक का बंधासुर जो है इसकी विशेषता क्या है कि चल फिर नहीं सकता असुरराज का बन ये एक ही जगह बैठा रहता है इसके है और छाती की एक आंख है हाँ भुजाएं इसकी लंबी लंबी है असुरराज का बन और बड़ी माया की विजाएं है इसकी कबंदा सर की ये चाहे जितने लोगों लंबी अपनी बुझाएं बना सकता है और जो भी इसके हाथ में पकड़ जाए ये खा लेता है पेट से खाता है और भसम हो जाता है ये राज का बंध है राम और लक्ष्मण को भी पकड़ लेता है जब देखा भगवान राम ने तो कहा लक्ष्मण ये कबंदासुर है ये मायावी है इसकी बुझाएं काटते जाओ वरना ये निष्क्रिय नहीं होगा जो भी इसके हाथ में आता है ये सिर्फ पचा जाता है ये कबल्लास हो हर जगह होता है दुकानों पर होता है घरों में होता है तिजोरी जैसी से तिजोरी नहीं होती अरे लॉकर क्या बोलते तिजोरी के पैर होते हैं क्या नहीं ऐसी जगह रहती है स्वराज कबंध के भी पैर नहीं है पेट में ही हुए हैं धड़ से पल्ला खुल जाए और छाती पे एक ही आंख है जहां चाबी लगाते और सेवाएं कैसे कहते मेरे और जो इस माया की तिजोरी का साथ करता है उसका सिर होते हुए भी नहीं रहता है आज अगर सिर होता और सिर छोटने वाला होता तो हम विषयासक जीवन से बाहर ना निकल गए होते अब ऐसे पेट रहे कुछ तो परिवर्तन होता तो भौतिकताओं को ही सब कुछ मानकर नहीं देते आत्मा की रस्ते का रस पी के हर सांस में देते हैं बोलो लेकिन इस अस्थिर राज का बंध का साथ करने वाले का सिर रहता हुआ भी नहीं रहता है एवरीथिंग टू यू और जो असत्य असत्य जगत है वही तेरे लिए धर्म जगत भी है और सत्य जगत भी है क्यों तो कभी मिल गया तो नहीं पकड़ते वो जहां नहीं जाते बेटे अमृत के गंगा से निकलते और फिर विष्णु का दुष्पान करने जाते बोलो ये कबोरेश्वर की लड़ाई क्या है सब कुछ जानता हुआ भी अब सत्य को भी पा लिया है पहचानता हुआ भी जीवन में असत्य को ही चाहता हूं कभी भाई जब जान दिया है वही सांस तो दे रहा वही धड़कन दे रहा वही जीवन का क्षण दे रहा है तो चलिए अब उसकी अवस्थे की मुस्कुराहट बन के किया जाए जैसे रखे रखेगा रहेंगे वह उसकी नाज में रहेंगे मेरे देखने में खोट नहीं है और ये मेरे तुम्हारे में मेरे कर्तव्य रहा है तुम्हारे तो कर्तव्य में मेरी ईमानदारी में खोट नहीं है बाकी जो ये चाहे करे अपन उसी की मस्ती में रहें क्या दे पाएगा वैसे अभी तो घर की चिंता है ये की चिंता है मतलब और दोनों की भी की भी चिंता है क्योंकि तो सिर नहीं जब होता तो समझ में गया होता तो ये भी तो और जब सिर खो जाता है तो शिक्षा भी पेट के लिए होती है सिर के लिए नहीं होती हाँ क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को पेट के साथ कबंदा सुख बनाने के साथ कह दो कि ये सच नहीं झूठ ही बोल दो क्यों पढ़ा रहे हो कि वो कैसे असुर राज का बंद बने पेट के लिए सर को पेट में कुछ सर की शोभा कंधों के ऊपर है न कि पेट के ऊपर है लेकिन आज आप बच्चों को क्यों पढ़ाते सारे सत्संग के बाद भी मैं पूछता हूं आपसे कि भाई पेट्रोल के देखो तो सिर है भी क्यों हाँ? महाराज को परीक्षित को कथा सुना रहे सुबीर जी क्योंकि उन्हें सात दिन के अंदर उन्हें भक्ति रस को जागृत करके उन्हें अनंत आत्मा से जोड़ना है सौभाग्य से यहाँ सिर गायब नहीं हुआ है अभी है मुकुट नहीं सोने के मुकुट नहीं ने कलयुग में वास किया उनसे भूल करा गई लेकिन मुकुट के हटते ही देखा कि अभी सिर है अपने भी टटोल लो कि सिर है क्या अगर है तो सिर के लिए शिक्षा क्यों नहीं है पेट के लिए क्यों और पेट तो आज भी वही भरता है अगर आदमी के हिस्से आ गया होता पेट का भरना तो चिड़िया कुत्ते बिजलियाँ सब तो भूखे न मर गए होते इनके ना राशन कार्ड है ना पढ़े लिखे हैं ना बैंक बैलेंस है वो तो सब मर गए उसे लेकिन आज कुदरत में मनुष्य के अलावा किसी जीव जंतु को अभाव नहीं है सब सुख पूर्वक जी रहे हैं अगर कोई अभाव अभावग्रस्त जिंदगानी जी रहा है तो ये सिर का आदमी आपके पास विजम है बुद्धि है विवेक है फिर भी आप इन पशुओं से नीचे क्यों जी रहे हो इनके सिर को पेट में डाल दिया और कभी कभी ये सिर जब पेट से भी नीचे सरक जाता है तो विषयों में चला जाता है आज ये हमारी अवस्था है और हम अपने को सही मानते हैं बाकी सब गलत है अगर मानते कि हम गलत हैं तो हमने सिर को पेट में से निकाल के कंधे के ऊपर फिर रखना लिया होता है कि भाई तू यहीं रहना तेरी यही शोभा है मैं भाई चिंता है कैसे चिंता बता रही है देश बता रहा है वेद बता रहा है लोग ये बता रहे हैं कि मेरे भक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है अगर मेरी भक्ति आस्था के बिना नहीं आती और जब तक आस्था अंतर नहीं होती तो भक्त नहीं होता किसी की भक्ति है कहा ये कोई फिल्मी नाटक नाच गाना नहीं है किसको जा रहा है वो तो तेरे भीतर बैठा हुआ है ये तेरी हर भावना को समझता है वो उसके लिए तुझे भाव बनाने की जरूरत है न नाचने की न गाने की न मटकने की जरूरत है उसके आगे कोई दिखावा चलता भी नहीं है तो तेरे भीतर बैठा है कटघट वासी है मुझे तेरा भाव चाहिए और उस भाव की ईमानदारी चाहिए उस भाव का आंतरिक समर्पण अर्पण चाहिए और उस भाव के प्रति तेरी पूर्ण शरणागति भक्ति चाहिए का राजन इसके दिल कोई भक्ति नहीं है <coughs> शैतूत का पेड़ देखा है उसमें शैतूत लगते हैं तो शैतूत का फल जो होता है शैतूत का कीड़ा और फल दोनों एक जैसे हो जाते हैं ये संग का प्रभाव है ये कीड़ा शैतूत के पेड़ पे ही मिलेगा आम के पेड़ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वहां उसको संग दोष लग जाएगा तो उसका रूप गड़बड़ हो जाएगा तो तुम चाहते हो कि तुम विषयों का संग भी करते रहो और भक्ति भी कर लो कहा राजन ये संभव नहीं है सत व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि संग व्यक्ति एक ही का कर सकता है दूसरी जगह औपचारिकता निभाता है जो आसक्त जगत का संग कर रहे हैं उनके लिए पूजा भक्ति एक औपचारिकता है एक कलसी है भैया पूजा करनी और जो भक्ति को ही संपूर्ण मान चुके हैं उन्हें विषयासक जगत का संग दोष नहीं लगता यदि वो भक्त हैं दो जगह अगर कोई कहे कि वो संग कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है यदि सत्संग का शुभ फल है तो कुसंग का बड़ा दुष्फल भी है और तुम चाहो कि तुम आसक्त विचारों के भेदभाव के झूठ कपट और लोभ में भी जी लो और उसकी मनोहारी भक्ति भी जी लो ये संभव नहीं है ये संभव नहीं है इसलिए बाबा ने भी कहा तुलसीदास ने कहा मानस ने सबसे भले वो हो जिन्हें नहीं जाते जगत के देश मूड कहते हैं अज्ञानी को नहीं मूड कहते हैं वो जो ज्ञान की सीमाओं को भी लंघ रहा है जब तुम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो तो अज्ञानी होते हो अज्ञानी होते हो डरते हो क्लच की जगह ब्रेक भी भावना पड़ जाए या ब्रेक की जगह क्लच एक्सीटर में दबा बैठो ये तुम जानते नहीं तो अज्ञान भाव आतंक भाव है, हाँ, तनाव में रहती लेकिन जब तुम ज्ञान में पारंगत हो जाते हो तुम्हें ड्राइविंग में परफेक्शन मिल जाती है अब तुम गाड़ी भी चला रहे हो बगल में जो बैठा है उससे बात भी कर रहे हो तो गाड़ी कौन चला रहा है मूल भाव मूल भाव परफेक्शन के बाद आता है अज्ञान जानने से पहले आता है दोनों में भेद है तो कहा जो सत्संग कर गए सत्संग से अपने जीवन के अमृत रहस्यों को पा गए वे बाह्य जगत से सहज ही दूर हो गए क्योंकि गोविंद जगत में आ गए तो सबसे भले वे लोग जिन्हें न जाते जगत गति अरे जो हो रहा होने दो वो है ना ठीक है इनकी मौत बनी रहे बाकी जैसे मिलती निभाए चल मोहित है मैंने धर्म ही तो है गोविंद नहीं जाना चाहिए ये मूल भाव है आपने मूर्ख का अर्थ मूर्ख लगा लिया ऐसा नहीं extreme of knowledge ignorance difference between illiteracy and ignorance you can ignore it in you completely know it किसी ज्ञान की पूर्णता को पाकर उसकी निसारता को पाना ये भाव है इसे उर्दू के भी एक शहर ने कहा है इतना ही वो राफिल है राफिल समझते ना रफलत में रहना मतलब वही भाव आ गया ना उतना ही वो अज्ञान को जितना जानता है वो उतना ही मूड हो जाता है तो मूड होने के लिए सत्संग है विद्वान होने के लिए सत्संग नहीं जो सोचते हैं कि हम सत्संग करके और बड़े विद्वान हो जाएंगे उनकी निश्चित रूप से अकाल मृत्यु होगी बीज जलधाराओं में उनकी समाधि होगी वो तो ज्ञान की लहरों से अटखेलियां कर रहे हैं इसलिए तो कहा कि सत्संग का ज्ञान जगत की निस्सारता को बढ़ाए यहां मूल भाव लाए जिससे चैतन्य भाव आत्मा में आ गए मूल भाव गाड़ी क्यों चला रहा था क्योंकि चैतन्य भाव में हम बात कर रहे थे और उस विषय में सोच रहे थे और गाड़ी भी चल रही थी तो गाड़ी कौन भाव चला रहा था मूल भाव और चर्चा में कौन था चैतन्य भाव तो जो आसक्त जगत में मूल नहीं रहता वो आत्म जगत में कभी भी चैतन्य नहीं होता है ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है मनोवैज्ञानिक बात है अध्यात्म का चरम बिंदु है और मैं चाहता हूं कि मैं विद्वान भी बना रहा हूं आसक्त जगत को भी बड़ी यथार्थ के साथ बड़ी समझदारी के साथ दे दू तो भैया भक्ति मूड भाव करेगा चैतन्य भाव आसक्त जगत में जो कराऊंगा वरना निभा आएगा अरे भाई निभा देंगे जैसा भी है ठीक है इसका नहीं जाना चाहिए उसका कोई भी एक क्षण भी उसका रस पिए बिना न जाए जब हर क्षण उसी से है तो फिर उसके रस में क्यों न जाए जैसे लगेगी निभा देंगे लेकिन उसके मनोहरी दर्शन से अपने तो बाहर कभी नहीं होने चैतन्य वहां रहेंगे मूड बाहर हो जाएंगे गलतियां तो हो जाएंगी माफी मांग अब ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान है ज्ञान उस ज्ञान की निस्सारता को जानने के बाद बहुत बार तो तो वेद पड़े होंगे कितने याद है इसलिए तो वर्तमान के भी तो सारे पोथे पत्रे छुट जाएंगे लौटेगा फिर मैच से आयोजन पड़ेगा अरे इस ज्ञान से भी अमीर हो अब गोविंद में चेतन हो जाएगा मैं नहीं बचा मोक्ष का खुला द्वार सामने है इसे मूर्ति से आत्मा को रूप दे दे मूर्त कर ले बचा एक सांस एक क्षण अपना जाए बस मैं उसमें ऐसे बचे बृहस्पति ऐसा उसे देखता ही जाए पीता ही जाए हटे नहीं वहां से कभी तो सबसे पहले विमोल विमोल हो जाते जगत कहा राजा भक्ति को बसाने के लिए संसार को बुलाना ही होता है बहुत अब नहीं किए जा सकते यही आसक्त और अनासक्त का भेद है यही आसक्त और अनासक्त का भेद है ये दोनों पेंस हैं सगे जुड़वा भाई हैं ये और ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं हमें कोई भी व्यक्ति ये रोते अनासक्त नहीं होता और हमें कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप में आसक्त नहीं होता ये दोनों सगे भाई हैं भक्त और आसक्त व्यक्ति आसक्त व्यक्ति भी भक्त होता है विष्णु का आसक्त व्यक्ति भी भक्त होता है विषयों का और जब जब तुम आसक्त जगत में अपनी भक्ति अर्थात चैतन्य भाव ले आओगे आत्म जगत में अनासक्त भाव चला जाएगा मूल भाव हो जाएगा और जब तुम भगवान ही चैतन्य भाव ले आओगे अनाथक आसक्त भाव प्रभु में ले आओगे तो अनाथक भाव सहज ही बाहर की जगत में आ जाएगा चलो जैसे मुझे निभा चलता है वो है ना वो करेगा तो जिस दिन विश्वास आ जाता है वो करेगा तो वो करता है आज विश्वास हमारे मठाधीशों में भी नहीं है चेला लाए चंदे लाए बटोरे तो काम चले हाँ? और आजकल तो ये मल्टीफेरियस एक्टिविटी है स्वामी जी भी खाएं लाने वाले भी खाएं बड़ी मौज आएगी <laughs> हाँ? तो कमीशन ही आ गए ना <laughs> वो उसमें विश्वास कब आएगा उसमें आस्था कब आएगी उसके लिए मेरी झांकी कब होगी ये भाव कब आएगा जैसे रखेगा रहेंगे भूखा रखेगा भूखे रहेंगे हम तो उसकी मर्जी है तो मेरी मर्जी कहाँ है वो जाने ये भाव आया तो आशा के जगत सहज ही जाने लगा महाराज परीक्षित कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के आराध्य थे जो महाभारत युद्ध में भी उनके साथ रहे और जो उनके अन्य भक्त थे मेरे पांचों पूर्वज पांचों पांडव वे भगवान श्री कृष्ण थे मैं लीला कथा सुनना चाहता हूँ तो कहा राजा मैं लीला कथा को भी सुनाऊंगा तो ईश्वर लीला क्यों करते हैं वे जो घटघटवासी है सब में व्याप्त है वे जो अजाना है अविनाशी है उन्हें उन्हें लीला करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे बालक पाठशाला में पुस्तक के पाठ्यांशों को नहीं पढ़ पाता एक सुगण सियाना अध्यापक उसे उदाहरणों और उदाहरणों से लीलाओं और नाटकों से कथाओं से स्पष्ट करता है यही ईश्वरीय लीला राधा भगवान एक अच्छे लीला के द्वारा हम सबके जीवन के हमारे ही अक्षर हमारे अंतर की कथा पढ़ाने हैं प्रभु आते हैं वो इतिहास भी है वे अध्यात्म भी है वे धर्म भी है वे महाप्रयाग होती है वो लीला गंगा यमुना और सरस्वती का पावन तक बन जाती है जब जब धर्म की हानि होती है मानव प्राणियों की घटना होती है जब जब उनके मन विशालता की ओर जीव को भागने लगता है और जीव बनने लगता है जब जब उसकी भक्ति सतही हो जाती सतही भक्ति से मेरा मतलब ओढ़ने वाली भक्ति जैसे कपड़े आपने ओढ़ रखे हैं जब जब मेरी भक्ति को मेरे शरीर के अंगों के समान होना चाहिए था तो अपने भाई बेकर्ता शरीर होना चाहिए था लेकिन मैंने तो धरती का ओढ़ना बना रखा है तो जब मन करेगा ओढ़ लेंगे और जब मन करेगा उतार देंगे आसक्तियों में चले जाएंगे इसमें उतार देंगे तो ये ओढ़ना भक्ति और भी बड़ा पाप है सुखदेव क्योंकि ऐसा व्यक्ति आसक्त और अनासक्त दोनों धर्मों में ऐसे ही पिसता है जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में गेहूं का दाना मनुष्य को चाहिए कि एक जगह आसक्त रहे और फिर अनासक्ति सहज ही दूसरे भाव में आ जाएगी उसे लाना नहीं पड़ता है जब आत्मा का सही सत्संग हो जाएगा तो कुछ नहीं मेरी अपेक्षा सहज ही हो जाएगी और जब आत्मा का संग से मेरा असंग होता रहेगा अलग हटता रहेगा तो विषय शक्ति मुझे अपने आप उठा ले जाएगी तब फिर मेरी ईमानदारी मेरी साधुता मेरी सच्चाई मेरा हाँ उस समय क्या होगी क्रीम पाउडर लिपस्टिक की तरह मुंह पे मिला हुआ एक नाटक होगा उसमें कुछ भी सत्य नहीं होगा तो कहा जब जब राम राम की कथा में रावण बनता है तो कहा कृष्ण की कथा में कंस बनता है तो कहा इस लीला कथा को मैं कथा के रूप में और फिर लीला के अमृत के रूप में तुम्हें देता हूं कि धरती पर दो ही प्रकार के भावनाएं तब से आज तक जन्म दी हैं आसक्त और अनासक्त आसक्त वृत्ति असुर भाव को जन्मती है और अनासक्त वृत्ति आत्मभाव की ओर मुझे उठा ले जाती है असुर और सुर इन दो विचारधाराओं ने इस सारे भूमंडल को आदि काल से मथा है और मथते रहे हैं ये दोनों विचार कितने महान ये आदि प्राचीन है इस्लाम की चौदहवीं सदी है चौदह सौ साल हुए हैं आज से चौदह सौ साल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और धर्म परिवर्तन करने वाले को ये काफिर कहते हैं अब ये पता नहीं काफिर हुए ये क्या हुए और क्रिश्चियनिटी है आज से इक्कीस सौ साल पहले दो हजार से इक्कीस सौ साल के बीच में क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट से पैदा हुई उससे पहले का जो धर्म था वहां से ये भी बदले थे और आश्चर्य है कि यही दो जातियां दूसरों को काफिर कहते हैं यही तो बात पैदा जो चौदह सौ साल पहले कन्वर्ट हुए और वो दो हजार साल पहले कन्वर्ट हुए वो काफिर नहीं है बाकी जो नहीं हुए यही <laughs> है बड़े विचित्र बात तो सुर और असुर दो विचार है और ये दोनों विचारधार विचार धरती के मानव में उठे हैं यदि वेद की गंभीरता में हम जाए तो हमें ये विचार वहां भी मिलते हैं कि एक ही गुरु के दो शिष्य थे दोनों संभवता भाई भी थे गुरु से दीक्षित होकर शिक्षा लेकर गुरुकुल से जब निकले तो वितस्ता नदी के तट पर आए वो हिमालय से उतर कर अब नदी को अब दरिया सिंध या जेलम को हम कह सकते हैं क्योंकि जो लोकेशन है लगभग ये वही है या अटक का दरिया हो सकता राम जाना हम्म। वितस्ता नदी के किनारे जब आए आज से लगभग बारह लाख साल पहले की बात है उससे पहले की भी बातें हैं ये कथाएं चलती रहती हैं तो जब वो वितस्ता नदी के किनारे आए तो दोनों आपस में लड़ पड़े मैंने कि गुरु के द्वारा दिए ज्ञान में एक ने कहा मेरी कोई आस्था नहीं है मुझे भारी संदेह है दूसरे ने कहा यदि तुम्हें संदेह थे तो तुमने गुरुदेव से पूछा क्यों उन्होंने कहा अच्छा, चलो जब पूछा कि मुझे सारे संदेह थे तो अब मानना कौन था तो बोला चलो आपस में चर्चा कर लेते हैं और ये चर्चा ही लड़ाई का मूल कारण था कहा चलो ठीक है उनका पंडित तुम बताओ कि धरती को ग्रह नक्षत्रों को किसने बताया कल परमेश्वर ने हाँ इसमें हमारा कोई शब्द नहीं है गौर ने कहा कि हमारा मत है हमारा मत है कि परमेश्वर ने धरती बनाई कैसे बनाई इसमें मतभेद है और क्या बनाई इसमें भी मतभेद है बेटा से तू बता तेरे विचार से कैसे बनाए क्यों बनाए सका मेरे पिता ने धरती बनाई पृथ्वी चांद सितारे बनाए ग्रह नक्षत्र बनाए पेड़ पौधे बनाए पशु पक्षी बनाए और भी बनाए मैं देख रहा हूँ पहाड़ियों में इन जानवरों को पशुओं को चढ़ते हुए खेलते हुए और देखता हूँ कुएं पर रिचार्ज हूँ मैं रिचार्ज तो का सीधा ट्रांसलेशन कर रहा हूँ सीधा मैं जब वहाँ वहाँ पहुँचेंगे तो आप पढ़ लेंगे देखता हूँ उनको मैं कहीं पर पंडित का पानी भरती हुई उन यमुनाओं को भी देखता हूँ मुझे लगता है मेरे पिता ने ये सब कुछ मेरे लिए है पिता तो मेरा जाना बेटा है पिता जा इन सबको भोग औरतों हाँ, को भी उन्होंने ये भी भोग है बरेली बनाएगी पशु पक्षी भी मेरे खाने के लिए मौज मस्ती के लिए हैं मेरे पिता ने मेरे लिए बनाया है ये धरती के लिए जा और मौज का है ईश्वर नहीं देखते बुलाने वो तो आसमान में रहता है बुलाने वाले को कोई जरूरी नहीं तो वो धरती पर रहे क्यों रहे मैं असुर हूँ अर्थात उस स्वरत्व से देवत्व से हीन हो वो मुझ में नहीं है आसमान हो रहा है असुर सुर से कटा गया है लेकिन मैं भी देखता हूँ इन पेड़ पौधों को पशु पक्षियों को इन धारियों को मेरी निगाह में भी पानी पत्थर को पानी भरती हुई देवियाँ हैं ये सबको देख के लगता है कि मेरे पिता ने एक बड़ा सुंदर मनोहर बाग बनाया है और मेरे पिता को एक माली की जरूरत थी तो उसने मुझे भी बनाया है मुझे मेरे पिता जिस बात को मैं निरंतर चला रहा हूँ बना रहा हूँ सजा रहा हूँ तो मेरे दिन और इस बात की विभेदन को और मनोहर बना दे मैं सब की सेवा के लिए आया तो स्त्री प्रेम वो भी मैं दुर्गा है वो गया नहीं पूछा है कहा वसुंधरा असुर ने सुर ने कहा ये वसुंधरा वो तो पूजा करता है धरती माता की उसने कहा कि तुम्हारे मेरे मतभेद कभी एक नहीं हो सकते कहा तू कहता है कि तू असुर है और तेरा ईश्वर आसमानों में है मैं कहता हूँ कि मैं असुर हूँ मेरे प्रभु मुझ में है वो तो सब में है कटकट बात है और यहीं पर दोनों के चले गए और दोनों ने भी तस्या के दोनों किनारों को पकड़ा तो उस पार तू रहेगा इस पार मैं रहूंगा तो लोगों को अपनी बात बताना मैं लोगों को अपनी बात बताऊंगा देख लोग कितने ज्यादा विश्वास करते हैं तो पार जाते असर से सुर में आवाज देकर कहा कि देख असुर जब जब असत्य अज्ञान लोग और लोग अंधेरे होंगे इन अंधेरों में हर व्यक्ति पूजा तेरी करेगा लेकिन जिस दिन आत्मा का सूरज चमकेगा यह आदित्य उनके भीतर से रोशनी देगा तो सूरज के निकलते जैसे अंधेरे मिट जाते हैं तो अंधेरे से मिट जाएगा पाप सिर्फ मेरी होगी और इस प्रकार दोनों ने दो धाराओं की तरह नदी के दो पाटों की तरह वो फैलते चले गए एक सुर फैलाया और दूसरा असुर फैलाया ये कोई दो अलग संप्रदाय नहीं थे ये कोई दो अलग सांप्रदाय नहीं थे दो विचारधाराएं थे जिसके जो निर्णय आए वो उसको ले और असम के भारी साम्राज्य भी बने हुए इतिहास में हम सब जानते हैं सूर्य है राम रहे हैं तो असुरराज रावण भी रहा है सूर्य महाराज उग्र सिंह थे तो उनके निकट संबंधी असुरराज जनासंध भी है दोनों विचार अपने अपने ढंग से धरती पर फैलते चले गए एक ने मानवीय मूल्यों में अध्यात्म को पूरे करके जीवन को एक सौंदर्य एक पवित्रता और एक अनहद गीत और संगीत सा बनाया वो सुर का आया और जिन्होंने विषयांधता को वो विचार को ही जीवन की राह बनाया वो असुर का आया और ये दोनों अतीत के युगों और कथाओं में भी आपस में लड़ते रहे तो कहा राजन असुर और स्वर ये तो वेद की कथा में द्वितीय अदिति के ही बेटे हैं अभी दो बने हैं महामुनि कश्यप के हाँ वो मूल कथा में आते हैं आदि काल से जहाँ से चले महामुनि कश्यप उनकी दो पत्नियां हैं एक का नाम है अदिति और दूसरी का नाम है दिखी अदिति से आदित्य अर्थात देवता हुए और द्वितीय से ये देव ही स्वर हैं और अदिति से दैत्य अदिति से दैत्य अर्थात असुर है अदिति का अर्थ ये है जो सूर्य की वैसी चमके जो सबको जोड़ मोड़ कर दे तो अदिति से होता है आदित्य देव और द्वितीय कहते हैं मारने को काटने को डराते बतिया के पीछे रहना है आज के भाषा दे आपके साथ है ना जिसे का मारना काटना टुकड़े करना बांटना उससे बने दैत और इन्होंने फिर दो अलग अलग विचारधाराएं बनाई एक ही पिता की दोनों संतान है और दोनों व्यक्तियों दोनों की अलग है तो माताएं अलग है दोनों मानते हैं कि एक ही परमेश्वर की संतान है वो एक मैंने कश्यप की कश्यप वैसे संस्कृत में कश्यप कठोर को भी कहते हैं तो जब भी कछुए के आक्रमण होता है सारे अंग भीतर समेट लेता है तो वो मेरे भीतर है उसी की शरण जाता है वो जो भीतर उससे अंतर्मुखी उस आत्मा से ईश्वर से ही दिति और अदिति दोनों ही द्वितीय है अदिति जो जड़ते हैं उससे आदित्य है दिति जो बांटते हैं उससे असुर है दानी है दैत्य है है ना इस प्रकार ये दो संस्कृतियां चलेंगी दोनों में भेद है और ये दोनों संस्कृतियां जो चलेंगी वो धीरे धीरे हर मनुष्य में दो मनोवृत्तियां बनती व्याप्त हो गई अब तुम में से कौन कह सकता है कि वो सुर है और कौन है जो पूरा असुर है देखो देखो तो वो आदि काल का द्वितीय और अद्वितीय का झगड़ा आत्मा के साथ ही हर शरीर में है मुनि कश्यप के साथ ये आध्यात्मिक पक्ष है असुर विचारधारा जब आगे बढ़े तो असुर ने भी पूजा और तप किए और तप करने के बाद पूजा पाठ आपने भी किए तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप सुर हो गए क्योंकि असुर आपसे अच्छी पूजा करता था नहीं करता था क्या हाँ अरे वो तो भगवान को प्रकट कर लेते मन में भी प्रकट हो गए कहने लगे मांगो असुर राज क्या मांगते बोला मेरे को अमर कर दो का ये मैं नहीं कर सकता इसके अलावा कुछ मांग लो अरे मैं तो यही चाहता हूँ बोलेंगे तो काम मुझे अमर कर दो कहा अमर नहीं, नहीं कर सकता हाँ पूछो कि तू अमर क्यों नहीं कर सकता तू अमर क्यों नहीं कर सकता अगर तू अमर नहीं कर सकता तो देवता क्यों अमर है हाँ इंद्रादित क्यों अमर है तो बाबा जी आप नहीं कर सकते ये हमारे कैसे है, है हमारे भाई क्योंकि देवता रहस्य जानते हैं कि अमृत मांगने से किसी को नहीं मिलता और अमर अगर होना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है कि तुम अमर सत्ता के साथ जुड़ जाओ तो तुम अमर हो असुर चाहता है अमृत दे दो तो मैं अलग सत्ता बनू और आज वही तो तुमको हर घर में सोने नहीं देता है ये असर भाव तुम्हारा हाय मेरे मेरे के भगवान से कट गया हूं मैं उसके नहीं इसके तुम्हारे हैं तो उसकी चिंता तुम्हें खा रही है इस असुर भाव को जीते हो और भाजपे का नाटक भी करते सोचो सोचो विचार करो कि देवता अलग है असुर के हैं क्योंकि असुर सुर से देवत्व से अलग हट के असुर हो करके अमर से अलग हट करके वो एक अपनी लंका बनाना चाहता है तो वो भीषण कष्ट पाता है और अंत में ईश्वर के द्वारा ही मारा जाता है इसके लिए हमें कथा भी करेंगे हाँ भागवत की कथा प्रहलाद की हमने छूटी है उसको भी नहीं कहा राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ संक्षेप नहीं लेंगे क्योंकि विस्तार में तो अब टीवी सीरियल पे बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या बना करके दिखाते रहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्य कशपू देखो असुर असुर दोनों पढ़ लो हिरण्याक्ष और हिरण हिरण्य कशपु ये दो भाई हैं कच्छप कहते हैं आप उसका नाम असली कश्यपू है हाँ। हिरण्य कश्यप कहते हैं ना उसका नाम है हिरण्य कशिपू छोटे की मात्रा शाम है अपाप में छोटा ऊ हिरण्य कशिपू ये नाम है कश्यप नहीं है अब वो स्लैंग लैंग्वेज में वैसा लोग बोलने लगे हिरण्याक्ष और हिरण्य कशपू ये दो भाई ये दोनों असुर है हिरण्यास ने सारी धरती को अपने प्रभाव में ले लिया और उसे रसातल में ले गया ले नहीं गया क्या तभी तो हम लोग हमारी भक्ति टिकी नहीं पाती हिरण्यास के आगे आज भी अभी बाहर निकलते ही सब फिर हिरण्यास हो जाएंगे हिरण्य माने गोल्डन सुनहरा आंख माने आंखों में विषयों का सुनहरा रंग खेती चल जाएगा मेरा तेरा अपना प्राया और फिर वही झूठ कपट हिरण्याक्ष माने जब आँख सुनहरी हो जाती है वैसे तो आप इसको कह सकते हो ना आजकल तो आँख की बीमारी भी आती है कंजेक्टिवाइटिस किरण आठ हो गया हाँ, आँख सुनहरी हो गई हाँ किरण हाँ, हिरण्य कशपू है हिरण्य आठ है सारी धरती को उसने समा लिया और वेदों को भी उसने पचा लिया और चाहा कि अब सबको लेकर के धरती को रसातल में डाल दो वेद का जो ज्ञान है वो खो जाए और क्या खो नहीं गया आज स्कूलों पाठशालाओं में वेद नहीं है हिरण्याक्ष खा गया कि नहीं और आज़ादी के पचास साल बाद भी लाड काले के मुंह काले हो रहे हैं बच्चों में हिरण्याक्ष ने वेद को पाठशालाओं तक आने नहीं दिया है यहाँ तक कि सत्संग में भी बाहर निकलते हुए हिरण्याक्ष फिर चढ़ बैठता है और मेरा सत्संग रह जाता है बोना हो जाता है कैसी विचित्र कहानी है महाविष्णु ने लीला अवतार धारण किया तो ये लीला अवतार जो धारण किया है तो उस कथा में भगवान जैसे हिरण्यास को मारते हैं ऐसे ही हम सबको भी मारना है नहीं तो सत्संग कुसंग में चला जाएगा सत्संग खो जाएगा और कुसंग का ही संग रह जाएगा हिरण्याक्ष सुनहरी आंख है उसकी और ये हृणय सबको बहुत पीड़ा देता है धरती को उठा ले गया है सारे देवताओं ने कहा अगर पृथ्वी ही खो गई और हृणयास के प्रभाव में चले गई कि जीवन का प्रांत हो जाएगा भगवान आप धरती का उद्धार करें और आज सचमुच धरती खुली हुई है हम सब जगाए जाने पर भी सो जाते हैं थोड़ी देर का सत्संग का अमृत ले पाते हैं लेकिन बाहर जाते ही इसे अभ्यास में प्रैक्टिस में लाना है उसकी जगह उल्टी प्रैक्टिस में फिर चले जाते हैं तब वहाँ विष्णु वराह का अवतार धारण करते हैं वराह कहते हैं जंगली शुगर को उसके सीम होते हैं वराह का अवतार धारण करते हैं और ललकारते हैं और उसके बाद हिरण्याक्ष को वो हैं और धरती का उद्धार करते हैं आज इतने में हम कथा ले रहे हैं वृक्ष हम सबको बनना है हम सबको बड़ा भाव को धारण